बसमीम वतताबुलजाफाती असल है तताबुलजाफात तताबुलजाफात ममिन कसरत तकरारी व तताबुलजाफात कहा गया है कि और कसरत तकरार से खाली होना और तताब इजाफात से खाली हुआ है ना उधर वो तताब इजाफाती तो इसे तो तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको वो तताब इजाफाती और तताब इजाफात से खाली होना यानी इजाफतों के पेदर पे आने से लगातार आने से एक के बाद एक इजाफत आने से खाली होना भी कलाम के फसीह होने के लिए ज़रूरी है कलाम बाद लोगों ने तो तीन चीज़ें तो है ही जो मुसनफ़ अली रहमा और मुसनफ़ीन ज़िक्र करते हैं कलाम का ज़ौफ़ तालीफ तनाफुर कलिमात और ताक़ीद से खाली होना उन कलिमात के फंसी होने के साथ साथ अगर कलाम इन तीन चीज़ों से खाली है और उसके तमाम कलिमात फसी हैं तो वो कलाम फसी है और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर कलाम गैर फसी है यानी उसके अंदर ज़ौफ़ तारीफ पाया जाता है या तनाफुर कलिमात पाया जाता है या ताकीद पाई जाती है तो उस सूरत में कलाम फसीह नहीं होगा अब बाज़ लोगों ने यह कहा था कि इसके अंदर इजाफा कर दो किस चीज़ का दो चीज़ों का एक तो ये कि कलाम कसरत तकरार से भी खाली हो कि उसके अंदर तकरार की कसरत नहीं पाई जानी चाहिए क्योंकि अगर कसरत तकरार होगा तो कसरत तकरार की वजह से भी कलाम के अंदर पेचीदगी पैदा हो जाएगी जैसा कि यहाँ एक मिसाल दी थी सुबह लहा मिनहा अलीहा शवाहिद इसके अंदर साबित किया था कि देखो इसके अंदर कसरत तकरार है इस वजह से ये शेर फसाहत से निकल गया है फिर इसके अंदर एक किला से कौल जिक्र किया था बाद लोगों का और उन्होंने ये कहा था कि तकरार कहते हैं एक चीज़ का एक मरतबा जिक्र करना बाद उखरा दूसरी के बाद यानी एक चीज़ को दो मरतबा जिक्र करना जैसे कि पढ़ाई में होता है यहाँ किताब पढ़ी फिर जाकर मस्जिद में जाकर एक मरतबा शाम में उसको दोहरा लिया जाता है तो क्या कहते हैं कि हम तकरार कर रहे हैं है ना तो तकरार कहते हैं एक चीज़ को दो मरतबा कहने को और कसरत जो पाई जाती है कसरत पाई जाती है तीन मरतबा से है ना तो देखो कसरत तकरार कब पाया जाएगा जब एक चीज छ मरतबा एक चीज छह मरतबा कल वाली बात बतला रहा हूँ एक चीज़ छह मरतबा होगी जब जाकर कसरत तकरार होगा तकरार होगा दो मरतबा से ठीक है तो ये दो मरतबा हुआ और दो मरतबा को मिलाकर जब तकरार कहेंगे तो एक मरतबा तकरार एक मरतबा हुआ बाकी इसको कहना या दो मरतबा हुआ दो मरतबा कहकर कोई बात तकरार होता है है ना तो बात जो कही गई वो तो दो मरतबा कही गई और दो मरतबा को मिलाकर क्या होता है तकरार तो यहाँ क्या कह रहे हैं कसरत तकरार तो कसरत तकरार कब पाई जाएगी जब दो दो और दो एक तकरार दो तकरार और तीन तकरार तीन तकरार हो गए तो अब कसरत तकरार होगा समझना ही बात इसका समझ कहते हैं कि यहाँ पर तो देखो कसरत तकरार नहीं है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तीन मरतबा जमीर को जिक्र किया है छह मरतबा अगर ज़मीर को जिक्र करते तो उस वक्त में कसरत तकरार होती लेकिन चूंकि यहाँ पर छह मरतबा ज़मीर को जिक्र नहीं किया तो इसलिए कसरत तकरार नहीं है सिर्फ तीन मरतबा है मिनहा लहा मिनहा अलीहा तो मुसनफ़ ने इसमें कहा था कि देखो इसके अंदर नज़र है इसलिए मुराद कसरत से है जो वाहदत के मुकाबले में अब वाहदत के मुकाबले में कसरत क्या होगी एक दो तीन और तीन मरतबा यहाँ पर ज़मीर आ चुकी है तो मालूम हुआ कि कसरत पाई गई तो ये तो हुई कल की बात अब आगे ये तताब इजाफात यानी इजाफतों का तताब एक के बाद एक इजाफत का होना जैसे शहर के अंदर है हमामता जरा हमामता इसलिए पढ़ेंगे कि यहाँ पर या हरफ निदा महजूफ किसकी वजह से हमामता यानी असल है या हमामता जरा हरफ निदा के बाद हरफ निदा के बाद जो मुनादा आता है तो उसको रफा देते हैं या नसब देते हैं हम्म। या अल्लाहू या अल्लाहू तो यहाँ पर तो नसब दिया जा रहा है या महजूफ है तो उसकी वजह से नसब दिया जा रहे है ना के पेश क्यों हम्म। बताएगा कोई कोई बताओ ध्यान कहाँ कर यही तो पूछा हूँ मैं या हमामता जरा तो हमामता इस पर जबर क्यों आ रहा है

या रसूल अल्लाही या अब्दल्लाही या रसूल हम कहेंगे तो नहीं तुम ये ना कहना होगा इनके अंदर बरेलवियत की बू आ रही है इसलिए क्या हो या अब्दल्लाही कि हारून बेटा आए हो सकता है उन पर हुक्म लगाते हुए कि इनके शायद कुछ थोड़ा सा बरेलवी टाइप का तो यहाँ पर मुझे बतलाना ये है कि यहाँ पर या हमामत जरा क्यों इसलिए कि हमामा की इजाफत हो रही है जरा की तरफ और जब मुनादा मुजाफ और मुजाफिले की सूरत में आए मुरकब इजाफी होकर आए तो उस सूरत में मुजाफ पर जबर होता है और अगर तनहा आए तो उस सूरत में पेश होता है जैसे या अल्लाह नहीं और जैसे या अब्दुल्ला ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ हमामता इसी वजह से इस पर जबर आ रहा है हमामता जरा हौमतिल जंदली चूंकि ये क्या है हमामा मुजाफ फिर ये जरा मुजाफ इले मुजाफ फिर हमा ये इसका मुजाफ इले आगे का मुजाफ अलजंदली हमामता जरा हौमतिल जंदली जाई हमामतुन के माना है कबूतरी कबूतरी कबूतर के लिए भी इसको बोला जाता है लेकिन यहाँ कबूतरी मुतन है क्यों इसलिए कि आगे इस जाई अम्र आ रहा है और ये अम्र आ रहा है किस शक्ल में मुन्नत की शक्ल में अगर ये कबूतर होता तो कहा जाता इस जा हम्म, की इसका करीना है हमामत जरा जरा किसको कहते हैं जरा कहते हैं उस जमीन को जिसके अंदर रेत ही रेत हो और वहां पर कोई चीज न उगती हो और हाउमा कहते हैं मुआजमुशे को यानी ऊंची जगह जहां पर टीला हो टीलेदार जगह हो रेत कसरत के साथ जमा हो गया हो और जंदल कहते हैं पथरीली जमीन हो जहाँ पर पत्थर हो और इसका सजा के माना आवाज़ के होते हैं किस चीज़ की आवाज़ कबूतर वगैरह की आवाज़ को ऊँट की आवाज़ को इनको सजा कहते हैं अब इसका तर्जुमा देख लो फिर आगे इसके बारे में बतला दिया जाएगा हमामत दरा हऊ जंदली इस जाइए हम्म। रेतीली बुलंद पथरीली जमीन की कबूतरी रेतीली बुलंद पथरीली जमीन की कबूतरी इस दाई तू गाती रहे तू गीत गा क्यों गीत गा आगे का शहर का टुकड़ा है फांसी बीमार अम निन वमस माई इसलिए कह तू यफ़ा ताली लिया इल्लत बयान करने के लिए वजह बयान करने के लिए इसलिए कि तू बीमार अमन सुदा सुद के देखने की जगह में है मर अन मर अयुन मफ़ालून के वज़न पर इसमें ज़र इसलिए कि तू सुद के देखने की जगह में है वह मसमाइन और सुनने की जगह में यानी सुद ये शायर ये कहना चाह रहा है कि देख मेरी महबूबा है सुआद और तू ऐसी जगह बैठी हुई है कि जहाँ से सुआद तुझको देख भी रही है और तेरे गीत को सुन भी रही है इसलिए तू क्या कर गीत गाती रहे ये तो एक मतलब हो बाकी इसके अंदर ये साबित क्या करना चाह रहे हैं साबित ये करना चाह रहे हैं कि देखो इसके अंदर इजाफत है हमामा की तरफ ये हमामा है इसकी इजाफत है जरा की तरफ और जरा की इजाफत है हवमा की तरफ और हवमा की इजाफत है जंदल की तरफ तो इसके अंदर ये जो इजाफतें आई हैं तो तताब इजाफा पाया गया यानी एक के बाद एक इजाफत पाई गई इसकी वजह से कलाम फसाहत से निकल गया ये कहना चाहते हैं लेकिन ये बाद लोगों का कौल है कसरत तकरार और तताब इजाफा की वजह से कलाम कैसे निकल जाएगा हम्म? फसाहत से निकल जाएगा मुसनफ़ वाली रहमा हमारे बहुत अच्छे हैं बड़े इल्म वाले हैं बड़े इल्म वाले इनके इल्म के क्या ठिकाना आगे जाकर ये कहेंगे ही नजर अरे कहेंगे पी नजर इसके अंदर नज़र है और फिर ये उसकी वजह बयान करेंगे कि नज़र इसलिए है कि कुरान करीम के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं जब कुरान करीम के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो मालूम हुआ कि ये दोनों चीज़ें जो आपने बयान की हैं ये दोनों चीज़ें जो आपने बयान की हैं कि भाई इनकी वजह से कलाम फसाहत से निकल जाएगा ठीक नहीं है इसलिए कि अगर ये चीज़ें कसरत तकरार और तताग इजाफात सबब होता कलाम के फसाहत से खारिज करने का तो कलाम पाकिस्तान पर ना आता मालूम हुआ कि जब कलाम पाक के अंदर कुरान करीम के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो ये दोनों चीज़ें इसका सबब नहीं है कि कलाम फसाद से खारिज हो जाए ढेला ढेला सा लग रहा देख मैं सब देखते जाओ फकी ही इजाफत हाउमत फ़ी ही इजाफत हाउ हमामत इला जरा बस इसके अंदर इजाफत हमामतिन हमामा की इजाफत जरा की तरफ है वह जरा इला और जरा की इजाफत किसकी तरफ है हऊमा की तरफ है वह हऊमता इलल जंदली और और हऊमा की इजाफत जंगल की तरफ है अरे जरा की होगी ना हमामा की इजाफत जरा की तरफ और जरा की इजाफत हमा की तरफ और हवा की इजाफत जल्दल की तरफ अब ये एक लफ्ज़ आया इसके अंदर जरा कहते हैं इसकी तहकीक करते हैं वल जराउ तानीसुल अजराई ये जरा अजरा की तानीस है कसरहा ज़रूरती इसको ज़रूरत शायरी की वजह से कसर के साथ पड़ा है क्या मतलब हाँ बताओ इसका कोई मतलब बताओ अगर बता सको तो बता तो ये किसको मोहनस है अजरा का मोहनस है जरा लेकिन ऊपर क्या आ रहा है हमामत जरा पसर के साथ आ रहा है यानी अलिफ ममदूदा के साथ नहीं बल्कि अलिफ मकसूरा के साथ आ रहा है तो इन्होंने क्या कहा भाई ये जो हमने पढ़ा है ना अलिफ मकसूरा के साथ यानी इसको खींच कर नहीं पढ़े लम्बा चौड़ा जरा ये नहीं पढ़ दे हमामता जरा क्यों इसलिए अगर इस तरह पढ़ दिया तो क्या हो जाएगा शहर बिगड़ जाएगा उसका वजन सलामत न रहेगा उसकी सलासत बाकी न रहेगी इसलिए ज़रूरत शायरी की वजह से हमने इसको कसर के साथ पढ़ा है समझारी वही हाँ। अब वहिया वहिया हिया ज़मीर का मर्जा वही है जरा जरा क्या है या अर्दु ज़ाती रमलिन वो रेत वाली ज़मीन है ला तुम भी तो जो कोई चीज़ न उगाती हो जैसे ये राजस्थान की रेतीली जमीन हो गए या जो हमारे यहाँ की जैसी मिट्टी हो उसमें उग जा बाकी तो और वैसे यहाँ की कुछ ठीक भी होगी और जगह की मैंने होगी वल हौमा मुआजम और हवमा नाम है मुआजम बड़ी चीज का यानी ऊंचे टीला वगैरह का वल जंदल और जंदल अरजू जाती हिजारतिन पथरीली जमीन पत्थर वाली जमीन यानी पथरीली जमीन को कहा जाता है वह सजाओ हदीर हमामी और सजा हदीर हमाम है हमामी वगैरह मनहवी कबूतर वगैरह की आवाज सऊथ नीचे लिखा हुआ है कोई ध्यान से पढ़े तो नीचे पीछे ऊपर ऊपर भी देखे वो बैठा छू गई थी वकऊलू फनता बिमर अन अब कहते हैं और और उसका फॉल पानता विमर अन आया था ना ऊपर अंति विमर अन अरे तराकी हम्म। व तस्माऊ देख ध्यान से देखिए जरा युकाल फ़लान बिमर अमिनी व मसमाइन अई बहैस अराह व असमा कौलह कदाफिहा ये बातें मत करे देखो फ़ानती बीमार अम इसका मतलब बयान कर रहे क्या है इसका तर्जुमा अई बिहाइसू यानी ऐसी जगह में है कबूतरी तो ऐसी जगह में है तराकी सुद कि तू तुझको सुद देख रही है तराकी स्वादू तुझको सुद देख रही है वह तस्माओ सऊता और वो तेरी आवाज को सुन रही है ये इसको इसलिए बयान कर रहे हैं कि बाद लोगों ने इसके खिलाफ भी कहा है बालकों ने कहा है कि कबूतरी स्वाद को देख रही है और कबूतरी स्वाद की आवाज को सुन रही है तो कहते हैं कि वो मतलब नहीं है मतलब ये है कबूतरी को कौन देख रही है स्वाद देख रही है और और हाँ आवाज कौन सुन रही है स्वाद या कबूतरी स्वाद सुन रही है आवाज बाद लोगों ने इसके बरखिलाफ कहा है तो इससे उसका रद्द हो गया वो आगे आ रहा है अब ये दलील भी पेश करते हैं कि देखो इस तरह बोला जाता है बीमार अम मिन्नी वमस मुझसे मुझे देखने और नहीं मुझसे देखने और सुनने की जगह में है क्या मतलब होता है इसका बीमार अब मिन्नी वमसमैन का इसका मतलब ये होता है कि बेहाइसु आराहू असमाऊ कौलहू वो ऐसी जगह में है कि मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उसकी बात को सुन रहा हूँ कलाफ सिहा ये सही सिहा के अंदर है लगत की मतबर किताब है इससे इस बात खड़ा हो जाए खड़ा हो जाए खड़ा जब कुछ कहना रहा हूँ तो फालतू तो बोली जा रहा बस खड़ा खड़ा है जिसे उल्लू अकल ना जरा अभी बिल्कुल ना वहाँ खड़ा हो बिल्कुल पीछे को जाके आप उनके आस पास कोई मत रहे तो चल पीछे को बिल्कुल कोई तमीज ही ना है एक बार दो बार दस बार बीस बार आदमी बोली जा बोली जा पता है क्या मिनट सौ में दोपहर में पता तुझे पता आई बेहसु आराहू व असमाऊ कौलहू यानी ऐसी जगह में है कि मैं उसको सुन रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उसकी बात को सुन रहा हूँ ऐसा ही सियाह के अंदर है इससे ये बात बयान करना चाह रहे हैं कि जो मिन का मजकूल होता है यानी मिन जिस पर दाखिल होता है वो फाइल होता है मिन जिस पर दाखिल होता है वो फाइल होता है तो यहाँ पे देखो तो या है या मुतकलिम तो इसका मतलब ये कि ये मैं फ़ाइल हूँ यानी मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उसकी बात को सुन रहा हूँ ठीक है अब यहाँ से इसको लाकर ये ऊपर वाली बात को साबित करना चाह रहे हैं क्योंकि ऊपर क्या आया फंती बीमार अम मिन स्वाद मिन किस पर दाखिल हुआ स्वाद पर तो जब स्वाद पर दाखिल हुआ और मिन का जो मदखूल होता है यानी मिन जिस पर दाखिल होता है वो फ़ाइल होता है तो मालूम हुआ कि फ़ाइल कौन है तो आद है यानी सुनने वाली और देखने वाली कौन है तो आद है इससे इस बात को जाहिर कर रहे हैं इस बात को साबित करना चाह रहे हैं उसी को आगे बयान फरमा रहे हैं फजा हरा फसादु माकीला बस जाहिर हो गया उस चीज का फसाद जो कहा गया है क्या अन्ना इन्ना मानाहू अंति बिमौजाइन तरीर मिन सुआर व तस्मीन कलाम कि इसका मतलब ये है कि तू ऐसी जगह में है तरीनु मिनहु सुआदा कि उस जगह से मिनहु उससे यानी उस जगह से तू सुआद को देख रही है व न कलाम और उसके कलाम को सुन रही है तो देखो ये क्या उसके बरखिलाफ हुआ लेकिन ये मतलब इसका नहीं है इसको बदलाना चाह रहे हैं कि ये जो है इसका फसाद जाहिर हो गया किससे लगत की किताब से कि लगत के अंदर फिहा के अंदर जो है इस बात को साबित किया गया है कि मिन का जो मदफूल होता है मिन जिसका दाखिल होता है वो फ़ाइल हुआ करता है और शेर के अंदर जो मिन दाखिल हुआ है वो दाखिल हुआ है सुद पर तो मालूम हुआ कि सुद सुनने वाली है वफसादु दालिका मिम्मा यशहदु बिहिल अकलू वन नकलू और ये और इसका फसाद उन चीज़ों में से है कि जिसकी अकल और नकल गवाही देती है अकल और नकल से भी ये बात पता चलती है कि ये जो बाज लोगों ने जिसके कायल जो जनी है इन्होंने जो ये बात कही है कि इसका फ़ाइल कौन है नहीं वो कबूतरी है ये जो बात कही है ये बिल्कुल गलत है इसको अकल भी कहती है और नकल भी कहती है नकल किस तरह कहती है इसलिए कि सिहा जो मतबर एक किताब है लगत की उससे मालूम हो गया कि भाई मिन का मदखूल कौन होता है मिन का जो मदखूल होता है वो फाइल होता है तो ये नकल से तो साबित होगी और अकल से किस तरह साबित हो रही है अकल से इस तरह साबित हो रही है कि अगर इसका फाइल होती कबूतरी तो ये जो इस डाई कहा इस डाई तू गाती रहे तू गा किसको कहा जा रहा है तू गा कबूतरी को कहा जा रहा है ना कबूतरी को कहा जा रहा है तो अगर कबूतरी स्वाद की बात को सुन रही होती तो कबूतरी से थोड़ी कहा जाता कि तू गा उससे क्या कहा जाता कुछ कुछ खामोश रहे इसलिए कि स्वाद कुछ बोल रही है और तो स्वाद की बात को सुन लेगी न कि कहा जाता है इस जाई से तू तो है तो नकल भी और अकल भी के खिलाफ की गवाही दे रही है आगे फरमाते हैं वफी नजर और इसके अंदर नजर है किस चीज के अंदर नजर है ये बात मैंने बतला दी पहले ही क्या जो बाद लोगों ने ये बात जिक्र की है कि कसरत तकरार और तताव इजाफात ये भी होना चाहिए किस चीज़ में कसरत तकरार और तताव इजाफात से भी खाली होना ज़रूरी है कलाम का कलाम के फसी होने के लिए कि कलाम जब ही फसी होगा जब वो तीन चीज़ें ना हो जो आपने पहले बयान की तनाफुर कलीमात है ना ज़ोफ़ तालीफ और ताक़ीद इसके अलावा ये दो चीज़ें और ये दो चीज़ें और ना हो क्या क्या कसरत तकरार और इजाफा कहते हैं कि ये जो आपने बाद वाली दोनों चीज़ें जिक्र की हैं इसके अंदर नज़र है ये तो कहा है वफ़ी ही नजर किसने जो इसके मातिन है मातिन का नाम अल्लामा अब्दुलरहमान अल कजवीनी उन्होंने तस्वीर तो इतना कह दिया वाकई नजर बाकी इसको हल क्या है अल्लामा तफजानी रहमत कहते हैं कि देखो आपने ये जो दोनों बातें जिक्र की हैं ये सही नहीं इसलिए कि अगर इनकी वजह से शक्ल पैदा हो रहा है ये शक्ल का सबब है तो शिक्ल का सबब है तो तनाफुर कलिमात की जो कैद है उसमें ये दाखिल हो जाएंगे और ये अलग से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अगर इनकी वजह से शिक्ल पैदा हो गया और तनाफुर कलिमात किसको कहते हैं कि ज़बान पर शिक्ल हो और अगर इनकी वजह से शिक्ल हो रहा है तो ये उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे अलग से जिक्र की ज़रूरत नहीं और अगर ये कि इनकी वजह से शिकल नहीं हो रहा है तो फिर इसको जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है और हम सही बात ये बतलाते हैं कि देखो इनकी वजह से शिकल नहीं होगा ये फसाहत कलाम के लिए मुखिल नहीं होंगे इस वजह से कि कुरान में मौजूद कहाँ है यह मिसला दाबी कौमी नोहिन मिसल मुजाफ मुजाफिल मुजाफ कौम मुजाफिल मुजाफ नूर मुजाफिल है ना है तो देखो यहाँ पर कसरत तकरार है, है? एक दो तीन चार तीन तीन चार यहाँ पर ऐसी जिक्र राहमती रबी का आपका हो जिक्र मुजाफ राहमती मुजाफिल मुजाफ रब मुजाफिल मुजाफ और काफ मुजाफिल तो देखो यहाँ पर क्या है कसरत तकरार है अगर कसरत तकरार सबब होता किसका फसाहत से खारिज होने का ये मुखिल बिल फसाहत होता तो कुरान में ना होगा मन जक्काहा तो देखो यहाँ पर कितने सारे क्या हैं इजाफतें नहीं अच्छा पहली मिसालों में तो क्या है तताब इजाफात और ये जो मिसाल है वनफ्त मात हुआ काल हम आप जो रहा वो तकवा इसके अंदर कसरत तकरार है अगर अगर मुखिल बिल फसाद होता तो कुरान में हम्म। वकी नजर और इसके अंदर नजर है लिअन्ना लिअन्ना कुल्लम मिन कसरत तकरारी व तताब इजाफाती इसलिए कसरत तकरार और तताब इजाफात में से हर एक इन सकुर लफ्ज अगर उसकी वजह से लफ्ज जबान पर शकील होता फ़कद हसरल अख्तराज तो एतराज़ हासिल हो जाता इससे किसके ज़रिए बितनापुरी फ़कद फ़कद हसरल एतराज़ बितनापुरी बस एतराज़ उससे तनाफुर के ज़रिए हासिल हो जाता कि वो तनाफुर इसके अंदर शिकल होता तो जो है तनाफुर के अंदर दाखिल हो जाता और फिर इसके अलग से जिक्र करने की जरूरत न रहती व अल्ला फला बिल फसाहती वरना तो वो फसाहत में मुखिल भी नहीं है कैफा तो हो भी कैसे सकता है कैफा हो भी कैसे सकता है क्यों जी वक़द वक़ाफ़ तंजीली और तहकीक के कुरान करीम के अंदर नाजिल हो चुका वाक़ हुआ है आया है क्या मिसलताब कौमी नूहिन कुरान करीम के मशहूर पांच नाम हैं जिनमें से एक नाम तंजील भी मिसलताब कौमी नूहिन वजिक्र रहमत रब का अबदहू वनफ्स वमा सवाहा फ़ालहमहा फजूरहा व यहाँ तक समझ में आ बात अब आगे फसाहत फिल मुतकलम को बयान फरमा रहे हैं मतन मतन देखो वल वल फसाहत फिल मुतकलमी मलकतुन बिहा तबीरी अनिल मकसूदी बिलफिन फसी फसाहत फिल मुतकलम मलकतुन ऐसा मलका है बिहा अल मकसूदी कि जिस मलके की वजह से मुतकलम मकसूद को ताबीर करने पर कादिर मकसूद को ताबीर करने पर कादिर हो बिलफ्जिन फसी फसीह लफ्ज के साथ फसाहत फिल किसको कहते हैं फसाहत फिल कहते हैं कि मुतकलम के अंदर ऐसे मलके का होना यानी ऐसी क़वत का होना कि आदमी जब भी चाहे तो जब भी चाहे तो फसीह लफ्ज के साथ वो कलाम पर कादिर कलाम पर पाते हो ऐसा नहीं कि किसी ने कोई तकरीर कर दी या कोई बात बोल दी फसाहत के साथ तो उसको ये कह दिया जावे कि भाई ये मुतकलम तो फसी है हो सकता है कि जो बात ये बोल रहा हो इसने किसी दूसरे फसीह शख्स की नकल की हो या कोई आया स्टेज पर आने के बाद उसने तकरीर की बड़ी फसीह हो गली तकरीर की लोग जो मुतासर हो गए और हम उसकी तकरीर को सुनकर ये नहीं कह सकते कि भाई यह शख्स क्या है बलीग है ये शख्स फंसी है क्यों नहीं कह सकते फंसी इसलिए कि हो सकता है कि इसने किसी की तकरीर को ऐसे ही रट कर जो यहाँ पर सुना दियो बल्कि में फसीह वही होगा जो जब चाहे जिस मकसद में चाहे उस मकसद में फसीह कलाम कर सके फसाहत फिल्मतकलम फसाहत फिल्मतकलम वो ऐसा मलका है यकतदिर बिहा कि जिसके ज़रिए मतकलम मकसूद को ताबीर करने पर कादिर हो बिलफिन फसीह फसीह लफ्ज के साथ इसके अंदर देखो मलका कहा मलका उसकी कुत को कहते हैं एक होता है हाल एक होता है मलका जब कोई चीज़ इंसान को हासिल होती है तो वो हाल होता है यानी शुरुआत में वो उसको ख़त्म कर सकता है और अगर उस पर वो मेहनत करता रहता है वो उसके अंदर उतर जाती है वो उसमें माहिर हो जाता है तो फिर उसको मलका कहा जाता है यह एक बात कही इन्होंने कि मकसूद को ताबीर करने पर कादिर हो मुसनफ़ आगे ये कह रहे हैं देखो दूना अन यकूला याबिर न ये कि वो ताबीर कर सके इशारुन बयानहू यसम्मा फसीहन ये खबर देना है इशारा करना इस बात की तरफ इस बात का कि उसको फसी कहा जाएगा जब वो जिदा पी ही तिलकल मलक उसमें वो मलका पाया जाए सवाउन वजद ताबीर अवलम वजद ताबीर अवलम जुजद हाँ ताबीर पाई जाए या ना पाई जाए क्या मतलब मतलब ये है कि उसने कभी फसी जबान में बात की हो या ना की हो उसकी ताबीर यानी उसको अदा किया हो ना किया हो लेकिन ये कि उसके अंदर ये कुत हो उसके अंदर ये कुत हो कि हाँ वो कर सकता है इसीलिए यक तदिरों का लफ्ज लेकर आए युआबिरों का लफ्ज नहीं लेकर आए कि उसने इस तरह से कहा हो फसी जबान के अंदर उसने कलाम किया हो ताबीर की हो नहीं बल्कि वो सब कादिर हो और कलाम क्या हो ना क्या हो उससे कोई बहस नहीं क्या होना चाहिए कुदरत होनी चाहिए अगर किसी के अंदर ये कुदरत है कि वो फसीह कलाम में कलाम कर सके किसी के अंदर ये कुदरत है कि वो फसीह कलाम में कलाम कर सके तो उसको क्या कहा जाएगा कि मुतकलम फसी है